याद रखो कि तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते और न तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर चल खड़े हों